तृतीय मंत्र भाष्य भी हो गया श्रेय प्रेय इसे दो विवाह करके कहा गया तयो श्रेय आददान से साधु भवति हियते अर्थात ययु प्रेयो वृणीत इति उक्तम श्रेय और प्रेय दोनों में से विचार करके जो श्रेय ही ग्रहण करता है मुक्ति का साधन ज्ञान साधु भवति वो कल्याण को प्राप्त करता है और अर्थात हियते पुरुषार्थ से नित्य पुरुषार्थ मोक्ष से त्यक्त हो जाता है यह उप्रेय वृणित प्रेय ही वर्ण करता है ये पहले कहा था क्यों ऐसा है तत्कस्मात दोनों क्यों प्राप्त नहीं करेगा प्रिय वर्णन करता है तो भी श्रेय के लिए प्रयत्न कर लेगा कुछ दिन के बाद श्रेय भी प्राप्त कर लेगा दोनों भी मिल जाएगा क्यों नहीं होगा दोनों प्राप्त होने से क्या आपत्ति है प्रिय क्यों छोड़ना है तत्कस्माद इति मन्यमन या तो हाँ कस्माद या तो उसका हेतु है दूरमिते विपरीते विसूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेत सामने नत्वा कामा बहवो लोलुपंत दूरमेते विपरीते विसूचि एते विपरीते विसूचि मार्ग है भिन्न भिन्न मार्ग है श्रेय मार्ग प्रिय मार्ग विपरीत मार्ग है केवल विपरीत नहीं दूरम विपरीत अत्यंत विपरीत है थोड़े कहीं विपरीत लगता है फिर कहीं एक तरफ हो गए ऐसा नहीं दूरम विपरीत अत्यंत विपरीत विरुद्ध आगे कहीं मिलने वाले नहीं एकदम इधर इधर चलने वाला अलग उधर चलने वाला के दूर अत्यंत विपरीत है मार्ग भिन्न भिन्न मार्ग है कौन है अविद्या या च विद्येति ज्ञाता एक अविद्या और एक विद्या विद्या से अविद्या निवृत्ति मुख्य है श्रेय मार्ग है अविद्या से अविद्या का कार्य कर्म करना स्वर्ग आदि प्राप्त करना भोग करना संसार में भटकना ये अविद्या अविद्या से ही संसार अनादिकाल से विद्या से उसकी निवृत्ति होती है दोनों परस्पर विरुद्ध है विद्या तो अविद्या की निवृत्ति करती है तो विद्या भी प्राप्त करे अविद्या अविद्या का कार्य प्राप्त करे दोनों नहीं हो सकता है अत्यंत विरुद्ध होने के कारण दोनों विपरीत मार्ग अलग-अलग है इसमें से कोई एक को ही स्वीकार करना पड़ेगा दूसरे को छोड़ने के लिए छोड़ना है कर्म अनुष्ठान करते समय भी जो फल इच्छा से करता है तो श्रेय मार्ग में जाता है प्रेम मार्ग में जाता है फल इच्छा रहित होकर के कर्म उपासना करता है तो श्रेय मार्ग है अत्यंत विपरीत विद्या सम मन तो त्वाम तुम विद्या चाहते हो श्रेय मार्ग में चलना चाहते हो मैं मानता हूं तुम तो विद्या के लिए योग्य हो विद्या चाहते हो मुमुक्षुत्व है विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला होता है विद्यार्थी विद्यार्थी तो कोई सामान्य नहीं है विद्यार्थी तुमको मैं मानता हूं नचिकेता खुश होकर कहते तुमको मैं तो विद्यार्थी मानता हूं नत्वा काम बहवो अलोलुपंत काम काम्यंते इति काम विषय बहुत विषय में दिखाया देने के लिए कहा तुमको लोप्री छेदन लोप्री विच्छेद नहीं किया श्रेय मार्ग से विच्छेद नहीं किया भोग्य वस्तु जितने हैं श्रेय मार्ग से छुड़ाने वाले श्रेय मार्ग से छोड़ विच्छेद करके अन्य मार्ग में लेने वाले तुमको इतने काम भोग्य वस्तु श्रेय मार्ग से विच्छेद नहीं कर पाए तुम वास्तव विद्यार्थी हो कोई महात्मा पढ़ने के लिए जा रहे थे प्रातः काल सुबह सुबह कोई बोले संत जी कहाँ जाते हो कंस जी कहाँ जाते हो बोले हम पढ़ने के लिए जाते स्वामी जी के पास अच्छा तुम विद्यार्थी हो पहले तो संत जी कह कर सम्मान से बोल लेते फिर पढ़ने जाता सुनकर बोले अच्छा तुम विद्यार्थी हो विद्यार्थी <laughs> मतलब अभी बचे हो अच्छा तुम विद्यार्थी हो पहले संत जी आप कहाँ जा रहे फिर बात तुम सौदा जा रहे तुम विद्यार्थी हो विद्यार्थी शब्द निकृष्ट के लिए कहते हैं ऐसा नहीं नचिकेता यहाँ उत्तम योग्य शिष्य को विद्यार्थी में तुमको मानता हो करके खुश होकर कहते हैं वस्तुतः विद्या तो ही सा विद्या या विमुक्त है ब्रह्म विद्या ही विद्या है बाकी विद्या अविद्या है तो ऐसे विद्या जो चाहता है वो श्रेष्ठ है साधक सामान्य नहीं है अनेक जन्म के पुण्य पुंज फल देता है तो कोई ब्रह्म विद्या की इच्छा करता है जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा इच्छा हो तो फिर विचार करेगा साधन करेगा साधन चतुष्ट संपन्न होने पर नहीं तो विद्यार्थित्व नहीं होता है हाँ वो कुछ पढ़ करके उपाधि लेकर के नौकरी करना वो जो विद्या है ये तो अविद्या के अंतर्गत है वास्तव विद्या तो जो ब्रह्म विद्या उसको चाहने वाला विद्यार्थी उत्कृष्ट है दोनों क्यों विपरीत है तस्कस्मात यह तो दूरम विपरीतम दूरेण अत्यंत विपरीत है दूरांतिकार्थे द्वितीया द्वितीयाच द्वितीया पंचमी तृतीया सब होता है दूरम दूरेण विपरीत दूरात विपरीतम ऐसे कह सकते हैं अत्यंत दूरेण महता अंतरेण बहुत व्यवधान है अत्यंत विरुद्ध है विभिन्न एते विपरीते विपरीत कर्म से विपरीत है केवल विपरीत नहीं दूर विपरीत अत्यंत विपरीत है अन्योन्य व्यावृत्त रूप है परस्पर अं, भिन्न है एक मार्ग दूसरे मार्ग से अत्यंत विलक्षण है भिन्न भिन्न है विवेका विवेकात्मकत्वात् क्योंकि विवेकात्मक या अविवेकात्मक आत्मा का स्वरूप विवेक स्वरूप और अविवेक स्वरूप विवेक स्वरूप है श्रेय विद्या विवेचन विवेक करके ही उस मार्ग में चलना और पशु पक्षी जैसे भोजन मिलता है तो वहां चले गए भोग के पीछे चल जाना ये अविवेक आत्मक है <coughs> श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग साधु को हमेशा विचार करना चाहिए मैं किस मार्ग में जा रहा हूं और किस मार्ग में चलना चाहिए एक श्रेय मार्ग एक प्रेय मार्ग दोनों सामने देख करके किस मार्ग में चलना चाहिए किस मार्ग में चलते हो बार-बार विचार करें जो प्रिय मार्ग में चलेगा अर्थात ही अते पुरुषार्थ से तक तो हो जाता है फिर जन्म मरण चक्र में 84 लाख चक्र में भटकेगा और श्रेय मार्ग में चलता है ज्यादा जोर से नहीं दौड़े भी उचित मार्ग पर धीरे-धीरे चलता है तो भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा एक मार्ग है बहुत जोर से जा सकते हैं किंतु वहां जाने की अभी इच्छा जाने की इच्छा नहीं जाने पर विपद है लोग बुलाते आ जाओ गाड़ी में बैठा कर ले लेंगे और एक मार्ग में बड़ा कठिन चल कर जाना पड़ता है जहाँ आपको जाना है लाभ है तो क्या कर चल कर पहाड़ चढ़ना है या गाड़ी में बैठ कर चल जाना गाड़ी में बैठ चलते कोई डाकू बुलाते आओ गाड़ी में बैठाएगा तुमको तो ले लेंगे गाड़ी में बैठे नहीं जंगल निकल जो सामान सामान धन संपत्ति सो छोड़ लेंगे और जरूरत पड़ेगा तो वहीं ख़त्म कर लेंगे किंतु गाड़ी में बैठा कर लेंगे बड़ी गाड़ी में सम्मान के साथ खेला करके और एक रास्ता है चढ़कर जाना पड़ेगा पहाड़ में भगवान का दर्शन के लिए तो किस मार्ग में चलना चाहिए आइए पहले अंत में क्या है उसको विचार करके मार्ग चुनना चाहिए या होगा इस मार्ग में जाने पर या किस मार्ग में जाने पर क्या होगा श्रेय मार्ग में कठिनता आएगी किंतु लक्ष्य हुई जीवन का मनुष्य जन्म प्राप्त हो क्या उस मार्ग में चलना चाहिए धीरे-धीरे चलने वाले भी चल करके पहुंच जाते हैं और दौड़ने वाले बहुत रास्ता है दौड़ने के जाने पर किंतु जहां जाना है वहां यदि अनिष्ट है बुद्धिमता नहीं इसलिए दोनों मार्ग से किस मार्ग में चलना चाहिए और विचार कर किस मार्ग में चल रहा हूं प्रतिक्षण प्रतिदिन विचार करें ठीक मार्ग में चल रहा हूं या गलत मार्ग ले रहा हूं मन में कुछ कभी आ जाता है उसके अनुसार करते हैं सोचते कि हमें हम, हम स्वतंत्र है किसकी बात क्यों मानेंगे मन में जो आता है वो करना नहीं मन तो जैसे पानी नीचे बह जाने का स्वभाव है इंद्रिय मन का स्वभाव है विषयों को प्रपंच को दौड़ना ब्रह्म परमात्मा चिंतन करने के तो उनको विपरीत मार्ग में चलना पड़ता है इंद्रिय का स्वभाव बाहर दौड़ना उनको बाहर से रोक करके परमात्मा में लगाना ये प्रयास करना पड़ता है और मन जहाँ भागता है मन तो संसार की ओर भागेगा उस समय लगता है कि नहीं हम साधन करने के लिए चाहते हैं ऐसा साधन करेंगे ऐसा साधन करेंगे उसके अंदर फिर क्या वासना छिपी हुई साधन के नाम पर कहते उधर चल जाएंगे उधर चल जाएंगे किस लिए चाहते हैं साधना साधन के नाम पर कुछ भोग सम्मान धन आदि की इच्छा हो तो ऐसे भगता है मन हमेशा ही विचार करके यही है परमहंस परमहंस संप्रदाय है हंस तो क्षीर निर विवेक करता है आत्मा अनात्मा श्रेय पर विवेक करना चाहिए साधक को दोनों कितने विरुद्ध है तम प्रकाशाविव तम प्रकाशिव अंधकार प्रकाश के समान विरुद्ध अंधकार का भी प्रकाश प्रकाश का भी अंधकार ऐसे भ्रम हो जाता है दोनों दोनों एक साथ रह सकते हैं थोड़े समय अल्प अंधकार अल्प प्रकाश भी है अभी ये लाइट सब बंद कर देंगे या सूर्य किरण नहीं दिखे यथा उस कमरा खोलेंगे थोड़ा प्रकाश भी है थोड़ा अंधकार भी है किंतु अंधकार ही प्रकाश प्रकाश ही अंधकार कभी हो जाएगा अत्यंत विरुद्ध है तम प्रकाश प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव है अत्यंत विरुद्ध है विसूच्य है विसुच्यौ ऐसा होना चाहिए विशुच्यो दिवचन नाना गति भिन्न भिन्न गति वाले मार्ग गम्यते अनयादि गति मार्ग भिन्न मार्ग है भिन्न फले गम्यते इति गति कहीं फल करने के नाना गति भिन्न फले पांच नंबर टिप्पणी के विभिन्न फले सूचयत जनयत इति हां नाना फल देने वाले भिन्न भिन्न फले भिन्ने फले ययो भिन्नम फलम ययो ते भिन्न फले संसार मोक्ष हेतुत्वेन था एक संसार का हेतु एक मोक्ष का हेतु है आगे का विचार ये दूरदर्शिता है क्या मिलेगा इस रास्ता से जाने पर आगे कहां रास्ता जाता है कि वो रास्ता दिखता बहुत अच्छा रास्ता है और एक रास्ता अच्छा नहीं है किस रास्ता में चलना चाहिए गंगा जी जाना है किंतु आगे कीचड़ है यहाँ अच्छा है कहाँ जंगल जाने का रास्ता जिसको गंगा जाना है अच्छा रास्ता पकड़ेगा अच्छा रास्ता पकड़ेगा तो कहाँ पहुँचेगा <laughs> नरेंद्र नगर पहुँच जाएगा यदि गंगा जी जाना है नहीं खाली ऐसे घूमना है तो अच्छा रास्ता भी चलो गंगा जी जाना है तो अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा तो नरेंद्र नगर पहुँच जाएगा जैसे रास्ता हो जाना ही पड़ेगा इसलिए विचार करके भिन्न फल एक हेतु किसका हेतु कहाँ जाने चाहे रास्ता कहाँ जाता है विचार करो एक संसार को प्राप्त कराने वाला एक मोक्ष को प्राप्त कराने वाला केते इति उच्यते या च अविद्या अविद्या कोन प्रेय विषय प्रेय का विषय प्रेय विषय अविद्या इति च श्रेय विषय ज्ञाता श्रेय विषय यस्य विद्या सा श्रेय विषय श्रेय को विषय करती विद्या और को विषय करती अविद्या अविद्या कार्य से प्रिय लगता है बड़ा अच्छा अस्य के विषय करने वाले विद्या है दोनों निर्ज्ञाता ज्ञाता है श्रुति में निर्ज्ञाता अवगता जाना हुआ किसके द्वारा जानी गई पंडित ही पारदर्शी लोग जानते हैं दोनों को अविवेक नहीं समझ पाता है किस रास्ता से जाना बड़े अपने को समझदार समझ करके सारा जीवन भर संसार में ही भटकते हैं आगे क्या होगा पता नहीं है ये वो लोगों को पता नहीं किंतु जो पंडा पंडित है सद असद विवेक ने बुद्धि जिनकी हो गई पारदर्शी वो दोनों के मार्गों को अलग-अलग देखते स्पष्ट देखते हैं किस रास्ता से जा रहा है बड़े खुश होकर कोई अपने को बड़ा मानकर दौड़ता है विवेक देखते कहाँ दौड़ता है कोई चोरी करके धन संपत्ति लाकर बड़े खुश होकर के अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है रुपया किसे ठग कर ले आया बड़े बुद्धिमान मानता है की देखता है कहाँ जा रहा है अभी खुश होकर बैठा है कहाँ जा रहा है नरक जा रहा है उसको देखने से देखते नरक जा रहा है बड़े खुश अभी किंतु नरक जा रहा है किसको मार पीट करके धन संपत्ति लूट करके कोई सुख से रहता है तो आगे देखते कहाँ जा रहा है गिर रहा है इसी प्रकार पंडित लोग विचार करके देखते विवेकी ये पंडित होने के लिए पहले ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उसके बाद विचार करना ऐसा नहीं वो लोगों ने जाना तो साधो को विचार करके समझना चाहिए दोनों अलग-अलग है एक विद्या और एक अविद्या श्रेय के विषय करती विद्या कल्याण मार्ग में चलेगी और प्रेय विषय अविद्या अविद्या से अविद्या अविद्या का अविद्या से कर्म स्वर्ग आदि भोग ये सब अविद्या में है इस लोक में भोग स्वर्ग आदि भोग केवल नहीं बड़े इस लोक भोग के लिए बहुत चाहते हैं स्वर्ग आदि में ज्यादा विश्वास नहीं उसको नहीं सोते यहां भी सब बहुत ये जो है प्रयोग विषय करने वाले यह अविद्या मार्ग है तत्र विद्या अभिप्सिनम विद्यार्थिनम नचिकेतसम त्वाम अहमन्ये विद्या अभिप्सिनम विद्या चाहने वाले तुम विद्यार्थिनम यही विद्याभिषण विद्यार्थिनम तुम विद्यार्थी हो विद्या ब्रह्म विद्या को चाहने वाले विद्यार्थी नचिकेत तो आम हमने तुम मैं मानता हूं करके खुश होकर के प्रसन्न होकर के नचिकेता कहते तुमको मैं विद्यार्थी मानता हूं वास्तव विद्यार्थी हुई है मुमुक्षु है मोक्ष की जो इच्छा करता है मुमुक्षु ऐसे बुभुक्षु भोजन करना चाहता है पेट भर भोजन करने पर ही भोजन करता है इसी प्रकार मुमुक्ष मोक्ष प्राप्ति होने तक ही साधन करना है विद्यार्थी विद्या चाहता है विद्या प्राप्त होकर तृप्त हो जाता है विद्या से तब तो तृप्त नहीं तो तब तक तो तो छोड़ता नहीं तो विद्यार्थी है ये माया के कारण बहुत ऊपर को जा कर के भी फिर रास्ता छोड़ देते हैं गलत रास्ता पकड़ लेते हैं वासना कितने प्रबल है परे पूर्व पूर्व जन्म में इच्छा तो स्वाभाविक होती है अज्ञान कितने जन्म चलेगे ऐसे विषय भोग करने के लिए बड़े बनने के लिए इच्छा बहुत जन्म की इच्छा रहती संस्कार है थोड़ा प्रमाद हो तो सब हो, संस्कार प्रकट होकर के विभिन्न इच्छा हो जाती है अच्छे अच्छे साधक में इसलिए तत्पर प्रमाद नहीं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय बिल्कुल अप्रमत्त होकर के प्रमाद रहित होकर के प्रतिक्षण विचार करे कहाँ जा रहे हैं क्या हमारा लक्ष्य है क्या श्रेय मार्ग क्या प्रेम मार्ग इसे करके विद्या जो चाहता है विद्या ही प्राप्त करना है और ही विद्या है जो मुक्ति का साधन कस्मा यस्माद अविद्वद बुद्धि प्रलोभिन कामा ये जो काम है काम्य देते काम अवसर प्रवृत्ति जितने अविद्वत बुद्धि प्रलोभिन अविद्वान अविवेकी बुद्धि को लोभित करते हैं प्रलोभित करते हैं जो विद्यार्थी नहीं है उसको ही प्रलोभित करने वाले प्रलोभन करने वाले काम अवसर प्रवृत्ति जो काम्य वस्तु के विषय भागता है उसको इकट्ठे करता है उसको मान करके इकट्ठे कर बड़ा मानता है विवेक को देखते मूर्तम है नरक रास्ता में जा रहा है जो अत्यंत उत्कृष्ट फल प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म में मिला उसको छोड़ करके सामान्य फल ग्रहण करता है उसमें अपने बड़ा मानता है बच्चे जैसे खाद्य को भूख रोते हैं और क्यों खिलौना डाल दिया लाल लाल दिखता है कि रबर के गेंद डाल दिया बड़ा खुश हो जाता है हंसता है पेट भर जाएगा ना <laughs> थोड़े समय के लिए खुश होता है भूख तो लगेगी फिर छोड़ रोता है इसी प्रकार जो प्राप्त होकर खुश हो जाते हैं उन्मत्त हो जाता है ये वित्त धन संपत्ति सम्मान से उन्मत्त होकर के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है फिर आगे मार्ग दिखता ही नहीं गलत मार्ग में चलते समय अपने को बड़ा आगे आएगा बड़ा मान करके चलते हैं किंतु अंत में जो फल मिलेगा विवेकी देखते अंत में क्या मिलेगा उसको फल अज्ञानी को ही अविवेकी को ही ये लोभी प्रलोभित करने वाले काम किंतु तुमको अवसर प्रभुत काम अविद्वत बुद्धि प्रलोभ विद्वत बुद्धि में प्रलोभ करने वाले अज्ञानी के लिए त्वाम अपि अवसर प्रभुत बहवोपि त्वा का अर्थ त्वाम न अलोलुपंत लुप्ली है विच्छेद नहीं क्या तुमको श्रेय मार्ग से हटा नहीं पाया बहुत काम जितने अवसर प्रभुति सब दिखा दिया देने के लिए ये कोई हटा नहीं सके वही होता धीर अपने मार्ग से जो हटता नहीं ठीक मार्ग में चलना है श्रेय मार्गात ए श्रेय मार्गात आत्मभोग अभिवांछा संपादन है ना काम्य वस्तु सामने होने से क्या भोग की इच्छा आत्मभोग सब होगा काम्य वस्तु सामने होने से ओ उनकी भोग करने की इच्छा होती अपने भोग जो रूप रस गंध स्पर्श आदि विषय उपस्थित हो जाए तो उनके भोग करने की इच्छा होती है ये आत्मभोग अभिवांछा भोग की इच्छा संपादन करते हैं विषय विषय क्या करते दृष्टा को अपने भोग इच्छा संपादन करते हैं विषय सामने आ गया देखने वाले में इच्छा हो जाएगी हम इसको भोग करें ऐसा संपादन करके वो क्या करते विषय श्रेय मार्ग से हटा लेते हैं विच्छेद कर लेते हैं जिस मार्ग में चलता उस मार्ग से लेकर अलग गलत मार्ग में ले लेते हैं भोग करना चाहते हो तो आओ देखो ये मार्ग में आओ बड़ा योग अनुष्ठान करते समय भी योग सूत्र में सिद्धि सिद्धि है उसमें योग मार्ग में है किंतु योग सूत्र में जो सिद्धि का कथन किया गया ये कोई योग में सफलता बताने के लिए नहीं ये सब विघ्न है वो सिद्धि के पीछे नहीं जाए तब निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करेगा थोड़े बहुत स्वल्प सिद्धि प्राप्त करके जो लोगों को दिखाने के लिए घूम गया पीछे आगे चलेगा जहाँ जाना था वहाँ मिल गया थोड़ा घूम गया पीछे लोगों को दिखाओ तो गया अपने तो घूम गया लोगों के आगे बढ़ो हमने इसे प्राप्त किया बस आगे कहाँ तक तो बढ़ा सकता है जितने देखा वहाँ तक तो पहुँचना भी कठिन है और आगे के लिए क्या उसको मालूम है एक सेव मार्ग से अपने भोग इच्छा संपादन करके बहुत काम तुमको ये श्रेय मार्ग से विच्छेद नहीं कर सके अतो विद्यार्थिनम श्रेय भाजनम अन्यते अभिप्राय इसलिए तुमको विद्यार्थी मानता हूँ विद्या ही चाहते हो जो विद्या ही चाहता है उसको कहते विद्यार्थी अन्य भी चाहेगा विद्या भी चाहेगा ऐसा नहीं ब्रह्म विद्या जो चाहता है और कुछ नहीं चाहिए केवल ब्रह्म विद्या से ही सकल दुख की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो जाती है और क्या साधन चाहिए केवल विद्या से ही ऐसा जो चाहता है वो श्रेय भाजनम मन्ये श्रेयस भाजन पात्र श्रेय का पात्र तुम हो पात्रता पहले हो योग्यता हो तो मार्ग में चलेगा अवश्य लक्ष्य को प्राप्त करेगा तुम श्रेय भाजन ऐसे मानता हूं इति अभिप्राय यमराज खुश वगैरह कहते कल्याण के योग्य पात्र तुम हो अरे बाकी जो गलत मार्ग में चलते हुए अपने को बड़ा मानते हैं वो भी अनादि काल से है इसी प्रकार वेद में कहा गया ये कोई नई बात नहीं गलत मार्ग में चलने वाले अपने को बहुत बड़ा मान करके बड़े-बड़े को भी धिक्कार करेंगे ये सब कुछ नहीं जानते ये क्या करेंगे लोग सामान्य लोग भी जब कथा करके रुपया इकट्ठी कर लेते हैं भक्त बन जाते हैं साधुओं की गिनती नहीं करते तपस्वियों की गिनती भी नहीं करते क्या तपस्या करके लोग करेंगे क्या जानते हैं ये इसी प्रकार ये वेद में है ये संभव है ऐसा होता है आगे कहते भगवान स्वयं यमराज कहते हैं ये तो संसार भाजना जो संसार के लिए योग्य एक तो श्रेय भाजन है मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्यता जिनमें श्रेय भाजन है और एक संसार भाजना संसार के लिए पात्र है उनके लिए कहते हैं अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरः पण्डितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमानः पर्यन्ति मूढा अंधे नैव नियमाना अंधा अविद्याम अंतरे वर्तमान अविद्या के मध्य में घोर अंधकार में अज्ञान में स्थित है किंतु स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना अपने को मानते हम बड़े धीर है बुद्धिमान है बड़े पंडित मानते हैं धीरा पंडित मन्यमाना वो थोड़े देखा है सामान्य विद्यार्थी है थोड़े कथा करने के बाद लोग उनको बहुत मानने लगे तो उसका बोलना चलना भी बहुत अलग हो गया बात करने का क्यों सिद्ध एकदम कहाँ पे पहुंच गया बैठना उठना चलना फिरना बस बदल गया थोड़े समय एक बार कथा किया दो पाँच दो साल दस लाख हो गया और दस बीस लाख हो गया तो फिर कौन दिखे क्या साधु यहाँ और जिसके पास करोड़ों रुपया हो गया ये सब साधु एक तरफ इनको तो देखना ये सो क्या है बिल्कुल ये धन मत्त हो जाना ये धन जो लक्ष्मी है अधिक हो जाने पर इतने आए ये श्रुति कहती अविद्या अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन माना अपने को बड़े विवेक मानते बड़े समझदार है पढ़ने वाले को कहे क्या ये कर रहे हैं क्या करेंगे ये वो तो हो गए जैसे बाहर पहुंच गए एक स्वामी योगिंद्रनाथ जी कहते थे बोले सब तो ब्रह्म के बाप को बाप के साथ संबंध जोड़ देते हैं <laughs> ब्रह्म को ये सब ब्रह्म क्या पाया नहीं हम तो ब्रह्म के बाप बन गए करोड़ करोड़ रुपया इकट्ठे हो जाएगा तो ये सब क्या है स्वयं धीरा पंडित मान्य माना ये अहंकार अज्ञान में इतने बढ़ जाता है कुछ नहीं होने पर भी तो अहंकार है अब थोड़े यदि हो गया अपने क्या मान लेते हैं उनको क्या होता है यमराज कहते दंद्र में माना पर्यंत मोड़ा दंद्र में ध्रुव दम धातु से कुटिल गति को प्राप्त करते घूमते रहते परितयंती संसार में भटकते रहते मूढ़ा अविवेकी है कैसे घूमते हैं अंधे नेव नियमान यथा अंधा अंधे कहीं चल रहे दूसरे अंधे का मेरे हाथ पकड़ो मैं तुमको पहुंचा दूंगा दूसरे जब गिरेगा उसके पकड़ने वाले सब तो अंधे नेव नियमान ऐसे चलते इसी प्रकार इस मार्ग में चलने वाले बहुत हैं अपने को बड़े मानने के चलने वाले बहुत हैं इसे विवेकी को विचार करना चाहिए बड़े मानते हैं बड़े प्रसिद्ध है बड़े हो गए किंतु किस रास्ता से जा रहे हैं उसे महत्व बुद्धि नहीं करे जो कल्याण मार्ग है परमात्मा प्राप्ति उसे मार्ग पर रहे ये तो संसार भाजन अविद्या मंत्रे वर्तमान अविद्या मंत्रे का अर्थ मध्य घनीभूत एव तमसी अत्यंत घनीभूत अंधकार में गाढ़ अंधकार में सामान्य अंधकार नहीं घनीभूत अंधकार बिल्कुल दिखता नहीं आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है ये घनीभूत अंधकार अविद्या में अधिक होने से कुछ नहीं बिल्कुल अंध हो जाते हैं वेष्ट्यमाना तमसी वेष्ट्यमाना चार तरफ घेरे हुए अविद्या के अंदर पुत्र पशुआदि तृष्णा पास सस्ते ही विष्टित तो घेरे तृष्णा पास शत तृष्णा है प्यास विषय भोग करने की इच्छा पास तृष्णा है बंधन है पास बंधन एक दुने शतै ही एक सौ नहीं शतै ही शत शब्द एक वचन होता है एक सौ कहेंगे तो शतम ब्राह्मण शतम गाव शतम सत सो गाव शतम घटा किंतु सत ही कहेंगे तो सो सो तृष्णा पास तृष्णा कोई थोड़ी नहीं है कम नहीं है थोड़ी सी इच्छा के पीछे कितने इच्छा उसके पीछे है पुत्र पशुआदि पुत्र पशुआदि एक दे दिया पुत्र पशु आदि तृष्णा विभिन्न प्रकार है पुत्र गृहस्थ के लिए पुत्र है पुत्र अत्यंत प्रिय होता है इसलिए पुत्र कहते हैं सन्यासी के लिए पुत्र नहीं तो शिष्य भगद अपने बन जाए और पशु आदि पशु धन के लिए उपलक्षण है अभी धन पशु कौन चाहता है पशु से क्या मिलेगा बहुत कुछ चाहते करोड़ करोड़ रुपया हीरे आदि क्या क्या सो तो धन का उपलक्षण पशु आदि पुत्र है उपलक्षण ये सो अत्यंत प्रिय ये चाहिए वह चाहिए कुछ लोग तो चाहते कि थोड़े विदेश घूम कर आने से ही ये सार्थक हो जाएगा साधु जीवन साधु बना तो क्या होगा ये भी तृष्णा है बहुत लोग में रहती है बस विदेश जाने पर जैसे कि हो गया अब विदेश के लोग आकर यहाँ भटक रहे हैं देख कर आने पर कहते क्या मिलेगा <laughs> ये कहते गंगा जी का दर्शन कर जो बैठते हैं विदेश घूम कर आने वाले कहते यहाँ जितने शांति कहीं नहीं है विदेश लोग आगे गंगा तट पर बैठते ध्यान करते कितने लोग और कहते हैं यहाँ जितने आनंद बहुत घूमते हो लोग घूमते घूमते घूमते कहते यहाँ जितने शांति कहीं नहीं मिलती है कैसा सुनने पर जानने पर भी यहाँ के लोग सोचते थोड़ा विदेश घुमाए ये तृष्णा है इसी प्रकार विषय तृष्णा विभिन्न प्रकार क्योंकि पुत्र पशु कहते समय बहुत लोग नहीं हम तो पुत्र नहीं चाहते पशु नहीं चाहते पुत्र पशु नहीं चाहने पर क्या चाहते हो इच्छा तो बहुत ही है जितने तृष्णा है पुत्र पशु आदि दे दिया ये तो तृष्णा जितनी इच्छा है वही बंधन है उसी से घेरे हुए घेरी हुई है अविद्या में स्थित है किंतु अपने को बड़ा विवेकी समझते हैं हम समझदार है स्वयं वयम धीरा अपने हम धीर प्रज्ञावत बुद्धि वाले हम अपने को मानते स्वयं बड़े बुद्धिमान है पंडिताः शास्त्र कुशलाश्च ज्ञान भी है और शास्त्र में भी कुशल है शास्त्र का ज्ञान भी है कोई कोई आजकल कहते हैं विवाह करते आकाश में अब लड़के लड़की शादी कराने के लिए अपने घर तो जहाँ है शादी कहाँ करना जहाँ करोड़ रुपया खर्च होगा घर में शादी कराएंगे तो सामान्य लोग जैसे हो गए इसलिए चलो कोई दूसरे स्थान में मिला चलो अथवा कहीं अलग स्थान में जाओ कोई कहते नहीं इसमें क्या है अभी प्लेन में उड़ा जहाज में बैठ करके उधर शादी कराते हैं उड़ा जहाज में उड़कर जाते समय वहाँ से वहाँ से आते करेंगे तो कथाकार भी बोल चलते हम उड़ा जहाज में कथा करेंगे <laughs> ये शादी यदि उड़ा जहाज में करते कथा भी उड़ा जहाज में होगा जहाज में उड़ा जहाज में तो ये सब तृष्णा पास से करने वाले अपने को बड़े धीरा प्रज्ञावंत पंडित शास्त्र को शास्त्र क्योंकि उनके पीछे बहुत करोड़ करोड़पति बहुत ही और साधु महात्मा तो क्षेत्र में रोटी खाने के लिए मांगेंगे तो जो क्षेत्र में रोटी खाने वाले झोली लेकर जाने वाले उनके सामने कहाँ है जिनके पीछे करोड़ करोड़ करोड़पति है करोड़पति कितने हैं उनके पीछे करोड़ करोड़ करोड़पति करोड़पति एक दो नहीं बहुत है ये सब होने पर उन्मत्त हो जाते हैं धीरा पंडिता शास्त्र को श्राच बड़े शास्त्र को हम जानते थे मन्य माना मानते रहते हैं आत्मा माने कष्ट मानते रहते ही था मन्य माना ते दंद्र में माना दंद्र में माना तो अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम गच्छन्त धातु रेखा झोलादे क्रिया संभार यंग होता है नित्यम कौटिल्य गतो गति अर्थ के धातु में कुटिल अर्थ में यंग होता है तो अत्यंत कुटिल गति को प्राप्त करते हैं तो अत्यंत कुटिल गति को प्राप्त करते हैं कुटिल गति है तो अलग दशा को प्राप्त करते हैं कुटिल क्या है ये कुटिल गति कैसे है जरा आगे बताते हैं कुटिल गति अनेक रूपाम गति में गच्छन्त कुटिल रास्ता अनेक रास्ता को प्राप्त गति को गति को प्राप्त करते क्या जरा मरण रोग आदि दुखे ही परियंती खाली घूमते नहीं जहाज में बैठे जैसे घूमते ऐसा नहीं संसार में घूमते मतलब जन्म मरण चक्र में घूमने का तो जहाज में बैठकर घूमना <laughs> जन्म मरण में कितने कष्ट है और जन्म मरण नाम ले लेते बीच में जरा मरण रोग आदि वृद्धावस्था रोग अपमान रोग से जो कष्ट होता है कितने प्रकार रोग है मरण कष्ट तो अत्यधिक है वो सामान्य अनुभव नहीं होता है तो भी डरते हैं उससे पता चलता है कितने कष्ट होता शास्त्र में तो कहा गया सहस्र वृक्ष का दंशन करने पर जितने कष्ट होता है वृद्धावस्था रोग ये विभिन्न प्रकार रोग से ही परियंति परितयंति गच्छन्ति जन्म मरण विभिन्न योनि भटकते हैं हमेशा मनुष्य बन करके नहीं सब प्रकार जन्म में कितने पशु पक्षी पेड़ पौधे देखो ये भी कभी मनुष्य थे हम भी कभी इस प्रकार थे पेड़ पौधे पशु पक्षी देखो विचार करो हम भी कभी इसी प्रकार थे अभी ये है ये भी कभी मनुष्य थे अभी यदि ऐसे साधन भजन नहीं करेंगे तो अपनी गति बेच हो जाएगी पशु पक्षी भेड़ बकरी पौड़ पेड़ पौधे देखते समय विचार करो ये भी कभी मनुष्य थे और अपने मनुष्य जन प्राप्त करके यदि कुछ सत्कर्म नहीं करे सन्मार्ग में नहीं चले तो ही कौन पेड़ पौधे कौन बनेगा यही मनुष्य कभी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े नरक में भी हुई सब स्थान में हुई रहेंगे तो था विचार करना चाहिए इसमें परिगच्छन्ति मूढ़ा वही मूढ़ अविवेके न हम ये अविवेक जितने अपने को बड़ा मानने पर विवेक नहीं होता है किस मार्ग से चल रहा है इसलिए अपने मार्ग पर ठीक चलता है तो कोई आपको पूछे नहीं पूछे कोई कहे नहीं कहे कोई मतलब नहीं ठीक मार्ग में चलना निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुन्वन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यतेष्टम अदैव मरणमस्तु युगांतरेवा वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा नीति निपुण नीति से निपुण समझदार व्यक्ति निंदन्तु यदि वास्तुनुवंतु निंदा करे अथवा स्तुति करे लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम धन बहुत आ जाए ऐसा चल भी जाए तो कोई बात नहीं अदैव मरणमस्तु युगांतरेवा मरण अभी हो जाए आज युगांतर बहु युग के बाद मरण हो तो कोई बात नहीं कोई इसमें फर्क नहीं न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा जो धीर है न्याय मार्ग से एक पद भी उधर उधर नहीं होते ठीक मार्ग पर चलना है कोई कह दिया कुछ प्रशंसा करने लगा तो गलत मार्ग में चलेंगे अथवा निंदा करने लगा तो उचित मार्ग छोड़ देंगे ऐसा नहीं गलत मार्ग में चलने से धन प्राप्त होगा तो उधर चलना नहीं धन यहाँ चलेंगे तो धन धन रहे नहीं रहे आयु रहे नहीं रहे मरण हो कोई बात नहीं ठीक मार्ग पर चलना है ऐसा जो निश्चय करके चलता है ठीक मार्ग पर वो लक्ष्य को प्राप्त करता है परमात्मा उसी की कृपा करते हैं परमात्मा पर भरोसा करने का समर्पण का ही अर्थ है परमात्मा पर भरोसा समर्पण का शब्द से नहीं ठीक रास्ता उचित रास्ता विचार करके उसके लिए आवश्यक होता है क्योंकि जब मदांध हो जाते हैं उचित मार्ग उसको लगता है गलत मार्ग भी उचित लगता है जब जो काम करता है वो लगता है उचित है कभी-कभी समझते गलत है चोरी करने वाले कभी-कभी समझता है और कभी-कभी लगता है यही श्रेष्ठ है अन्य लोग नहीं कर सकते हम जो कर पाते हैं उसमें इसलिए थोड़ा सा गुरु शरण में रहना पड़ता है अपने को पता नहीं चलता क्या उचित क्या अनुचित गुण रज सत्व रज तम गुण गुण के कारण ऐसे परिवर्तन होता रहता चलम च गुणवृत्तम जिसको समते नहीं गलत है कभी ऐसे आ जाता लगता है यही ठीक है हाँ मैं ही तो करेंगे क्या हो जाएगा यही ठीक है उस समय लगता है यही ठीक है सारा जीवन भर सोचते नहीं यही ठीक नहीं है जब ऐसे रजोगुण बढ़ जाता है क्रोध हो जाता है लगता है यही ठीक है इसे थोड़े समर्पण अब परमात्मा के भरोसे में रहना चाहिए ठीक मार्ग पर चलना चाहिए ये अविवेकी होते हैं जो इस मार्ग में भटकते हैं अंधे नैव दृष्टि विहीन नैव नियमाना वो कहाँ लेंगे विषम पति यथा बहव अंधा बहुत अंधों को रास्ता लेता है गलत रास्ता में तो महानतम अनर्थम अनर्थम रिचंति तदवत बड़े अनर्थों को प्राप्त करते हैं इसी प्रकार अविवेकी अपने को जितने बड़े माने गलत रास्ते में जाएंगे तो आके नरक जाएंगे इसलिए विवेक मार्ग श्रेय मार्ग विचार करके उचित मार्ग पर चलना चाहिए साधक उसके लिए कोई ज़्यादा शास्त्र ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तभी चलेंगे ऐसा नहीं पहले से ठीक रास्ता पर चलने पर ही ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान क्या शास्त्र के तात्पर्य को समझ में आएगा तभी ठीक रास्ता पर चलने पर वासना यदि बहुत है गलत संस्कार बहुत है उधर चलने की इच्छा है तो शास्त्र का तात्पर्य भी निर्णय नहीं कर पाते हैं एकदम स्वच्छ होकर के समर्पण होकर के तो शास्त्र समर्पित हो जाए तो शास्त्र का तात्पर्य कौन होता है आचार्य के पास समर्पित होने पर ही विद्या का ग्रहण होता है सामर्थ्य आता है नहीं तो ग्रहण भी नहीं होता आगे मोक्ष साधन ज्ञान क्या होगा अतएव मूढ़त्वात् मूढ़ अविवेक होने के कारण क्या होता है न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतं वित्तं ओहेन मूढम अयम लोक नास्ति पर मानि पुनः पुनर्वसमापद्यते मे बालम सांपरायः न प्रतिभाति सांपराय है परलोक उसका साधन परलोक परलोक साधना बाल अविवेक को भान नहीं होता है कुछ तो कहते परलोक क्या है किसने देखा है मर गया तो गया आगे कहां परलोक अच्छा परलोक हो जाएगा उसका साधन क्या साधन है साधन जो कहते वो साधन यही साधन है कुछ लोग कहते यही बस स्वयं सुख से रहो दूसरे को सुख दो यही साधन है बड़े सुख से रहो इतने कष्ट से करना आत्मा को, को पीड़ा देना क्या कर जरूरत है सुख से रहो बस सुख से रहना यही सबसे सांपराय परलोक संपरायते सांपराय जो परलोक है परलोक और परलोक प्राप्ति का साधन उनको दिखता नहीं है किसको अविवेक जो है प्रमाद्यंतम वित्तम हो न मूढ़म प्रमाद करने वाले प्रमाद्यंतम प्रमाद जो करता है यहाँ बाल शब्द से ये अर्थ नहीं कि छोटा बच्चा ये है नहीं है किंतु प्रमाद्यंतम वित्तम हो न मूढ़म जब प्रमाद करता है उचित मार्ग में चलना चाहिए नहीं जा करके प्रमाद से भटक रहा है ऐसे क्यों होता है वित्त मोहन मूढ़म वित्त के मोह से मूढ़ हो गया मोहग्रस्त भ्रांत वित्त के मोह से तो कोई वित्त होने पर मोह होकर के मूढ़ हो जाता है कोई वित्त की तृष्णा से भी कम नहीं वित्त तो ऐसा है विषय विष तो खाने पर मारेगा विषय का चिंतन करने के पास में रहेगा तो भी मानने वाला नहीं विषय का ना, नाम लेंगे पास में रहेगा चिंतन करेंगे कोई मर जाता है अब वो विषय के साथ यदि यमराज का प्रथम अक्षर मिल जाए यमराज का प्रथम अक्षर क्या है यह विषय के साथ मेरे जोड़ दो तो विषय हो गया विषय से अधिक हो गया विष के साथ यमराज का संबंध नहीं तो विष मारता नहीं है <laughs> यमराज तो मानने वाले है ना ये पूरा यम नहीं यमराज का प्रथम अक्षर आ गया तो आगे विषय बन गया वो मार देगा मारना सरल से नहीं मारता है उसे बढ़ करके कष्ट देता है क्या बढ़ करके विषय का चिंतन करो नाम जप करो ध्यान करो देखो कुछ नहीं होता है और विषय पास में नहीं चिंतन करता है कहां से कहां पहुंच जाता है विषय का चिंतन करने से ही देखने से ही पास में हो तो पास में हो तो भी गलत मार्ग में चले जाता है तो विषय इसी प्रकार है तो एक ब्रह्मचारी कहीं रहते थे उसके गुरु बहने लड़के लोग वो स्थान छोड़कर जाता था उनके पास भजन करने के लिए उसको बताया तुम कमरा में भजन नहीं होता है ना सब मिलकर भजन करता अच्छा लगता है मैं क्या अच्छा क्या लगता है मालूम है पास में आस चार तरफ लड़की लोग रहती है ना पास में पीछे भी बैठे तुम आगे बैठो तो भजन करते संतों को बड़ा अच्छा लगता है ये विषय इस प्रकार है पास में रहने पर ही अपने को बड़ा उत्कृष्ट मानता है ऐसे किसी को प्राप्त है बड़ा जो ब्रह्मचारी हो जवान लड़की पास है आसपास से बैठे और बड़ा भजन होता है उसको सावधान कराने पर नहीं माना बाद में हुआ आंसों से जाकर काम भटका ऐसे करने वाले बहुत अच्छा लगता है कुछ नहीं होने पर पास में खाली है इतने मात्र से कितना अनर्थ होता है दूसरे तो दूर उजा होता है जाते हैं विषय इस प्रकार है पास में रहने से भी मन से चिंतन करने पर भी नष्ट होता है इसलिए वित्त मोह न मूढ़ होगा वित्त मोह से तो कोई मूढ़ हो जाता है और कोई वित्त की इच्छा करने पर भी वो भी काम मूढ़ नहीं है धन का चिंतन धन हमको मिल जाए मिल जाएगा ऐसा सोचता है और कुछ तो नहीं दिखता है परलोक क्या दिखेगा अयम लोक नास्ति पर इतिमानी कहता यही लोक सब कुछ है यही भोजन करो यही सब कुछ है भजन का कान पान भोजन करो बस यही है शांति से रहो यही सब कुछ है नास्ति पर इतिमानी परलोक क्या है कोई परलोक किसने देखा नहीं उसको क्या मानना है ऐसा मानता है क्या परलोक क्या स्वर्ग क्या ब्रह्मलोक परमात्मा बोलते क्या मोक्ष मोक्ष कहते क्या हो गया मोक्ष हो जाए तो क्या हो जाएगा डांट कर बोलेंगे क्या उत्तर देना <laughs> मुख्य हो जाए तो क्या हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान क्या ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया तो क्या हो गया बड़े जोर से ब्रह्म ज्ञान तो क्या हो गया मांग मांग कर खाते हैं यहाँ का बैठ करके <laughs> कहते ब्रह्म ज्ञान होगा <laughs> आओ कहते लकड़ी पकड़ा दिया लकड़ी फाड़ो कुठार पकड़ा दिया क्या मांगते हो ये लकड़ी फाड़ो कोई महात्मा जा रहे थे भिक्षा करने के लिए और कोई काम करे तो उसको कुठार पकड़ा दिया लकड़ी को फाड़ो भोजन देगी तो महात्मा डांट कर बोला लिया कुठार लिया लकड़ी को फाड़ दिया फाड़ कर रख दिया फिर चलने लगा बोले आए महाराज आज अभी देखे आ रही इतने लकड़ी फाड़ लिया मन में आए आए आए भोजन किए रहे <laughs> जहाँ हम खाते हैं वहाँ कुछ करते नहीं जहाँ कुछ करते वहाँ खाते नहीं <laughs> लकड़ी फाड़ दिया इसलिए हम नहीं खाएंगे ऐसा नहीं हम तो मांग कर खाने वाले नहीं भोजन लिया चले गए तब उनको शिक्षा मिली है <laughs> तो खाने के लिए कुछ करना नहीं होता है कुछ करके खाना इसी पर कुछ करके धन कमाना ये नहीं धन कमाने के लिए कुछ करना है खाने के लिए कुछ करना ऐसा नहीं धर से शरीर धारण के लिए खाना है किंतु कुछ करना उसी के लिए खाने के लिए नहीं कुछ करना होता है सेवा करते हैं परिश्रम करते हैं बहुत कुछ करते हैं वहां खाने के लिए नहीं हो मुख्य प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए सेवा करनी होती है साधु महात्मा कुछ करते नहीं खाने के लिए मांग कर धन संपत्ति से छोड़कर साधु बन जाते हैं संपन्न व्यक्ति से छोड़कर साधु बनता है क्या बनता है साधु बनता मतलब क्या है भीख मगा बनता है भिक्षु कहते हैं सरल भाषा में कहें तो क्या कहेंगे भिख मगा संस्कृत में कहें तो भिक्षु <laughs> भिक्षु है बड़े महाराज जी ने कहा मंगलाचरण का भिक्षु कहते अपने भिक्षु तो है सब इसको भूलना नहीं याद रखना सन्यासी जो है साधु बनेंगे वो क्या है भिक्षु है सनासन से भिक्षु प्रति होता है भिक्ष मांगना मिले नहीं मिले याचना करना मांगना ये मांग कर खाने के लिए मांगना है और कुछ के लिए मांगना नहीं है अधिक मांगने का अधिकार नहीं भूख लगती है तो क्षुद्वाधि चिकित्सताम प्रतिदिनम तो जिस प्रकार भोजन पेट भर जाए और भोजन कैसे करना है औषध जैसे जो औषध मिल गया डॉक्टर देते वही औषध खाना है ना अपनी इच्छा से खाना है डॉक्टर दे दवाई कहते ये छोटी-छोटी दवाई क्या काम करेगा बड़ी बड़ी गोली लेकर खा लिया रोग ठीक हो ना बढ़ेगा जो प्रारब्ध में आपको मिल गया समझो ही परमात्मा देते तुम्हारे लिए भोजन है भिक्षा करने पर जो मिल गया निषिद्ध नहीं हो ऐसे भोजन उसको लेकर संतुष्ट रहना है ये भूलना नहीं काम भिक्षु है ऐसा जो करते हैं वित्तमन मूढ़ है अविवेकी वो क्या क्या करते हैं पुनः पुनर्वसम आपद्यते में यमराज कहते हैं और बार-बार मेरे अधीन में आते हैं मैं तो चाहता तो इस लोग मेरे पास आए आते ऐसे ही मेरे के लिए मैं शासन करता हूँ यमराज कहते जन्म मरण दुख आदि सब प्रबंध में आरूढ़ होकर के भटकते रहते हैं बार-बार जन्म मरण मेरे वश में आते हैं अतएव भाष्य में मूढ़ न सांपराय प्रतिवादी मूढ़ होने से अविवेकी है परलोक उनको भान होता नहीं संपरा इति संपराय परलोक संपरा यति सम्यक प्राप्त करते एकदम परलोक है तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष शास्त्रीय संपराय परलोक संपराय हो गया परलोक और संपराय हो गया तत्प्राप्ति का साधन प्राप्ति है प्रयोजन जिसका ऐसे जो साधन विशेष साधन विशेष साधन जिस साधन से कर्म उपासना कर्म से परलोक प्राप्त करेंगे वो शास्त्रीय भान नहीं होता है सच बालम अभिवेकनम प्रति न प्रतिभाति ऐसे साधना बाल का अभिवेक को भान नहीं होता है न प्रकाशते न उपतिष्ठति तत् उसको प्राप्त नहीं होता है शास्त्र में शिष्टाचार है सब होने पर भी श्रद्धा नहीं होती इसलिए उसको प्राप्त नहीं होता है अभिवेकी को वो अभिवेकी को इस माल मानने पर भी वो अच्छा नहीं लगता है देखता है शास्त्र में से कहा गया सुनता है शास्त्र श्रवण करते मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए साधक को और वो शिष्टाचार कुछ महापुरुष करते देखते हैं तपस्या करने वाले करते हैं विरक्त से रहते सारा जीवन समर्थ होते है भी कि जो अभिवेकी है वो उसको विश्वास नहीं करता है सोचता है ये क्या है कोई ब्रह्मचारी कहा भिक्षा तो करेंगे कब तक ऐसे करते रहेंगे साधु बन गया क्षेत्र से रोटी खाकर बोला इसे रुखा सूखा खाना पड़ेगा कि कब तक ऐसे खाएंगे कब तक मतलब <laughs> कब फिर चटापट भोजन मिलेगा ही तो जब गृहस्थ बन जाओगे <laughs> तब अच्छा भोजन मिलेगा जाओ भटका पढ़ लव कौन पढ़ने के लिए कहा बोला ये सब पढ़ना होता तो मैं तो आईएएस परीक्षा देना था छोड़कर आ गया <laughs> पढ़ने के लिए छोड़कर आ गया और आकर फिर पढ़ना है तो उसकी अपेक्षा तो वहां रहना था पढ़ाई छोड़कर जो आ गया वो पता पढ़ेगा क्या ये निरंतर ये उसको सन्मार्ग मालूम हो सुनता है देखता है तो भी उसमें रुचि नहीं होती है विश्वास नहीं होता है यही प्रकाश होते तो नहीं टीका में दिया है शास्त्राचाराभ्याम प्रकाशमानोपि तीन नंबर टिप्पणी में नासो बालाय सदते दिखने पर दिखता है शास्त्र में कहा गया शिष्टाचार करते हैं कोई देखा जो गुरु जी यदि की रोटी खा कर क्षेत्र के रहते हैं अभी शिष्य बना एक साल नहीं हुआ बोलता है गुरु जी कब तो कैसे खाएंगे गुरु जी तो कितने साल से खा रहे दस बीस साल से तुमको अभी आकर बोलते कब तक तो हमेशा खाएंगे <laughs> अच्छा भोजन मिलेगा साधु बन गए कई देखते हैं ना बड़े-बड़े महात्मा को बुला कर खिलाते हैं वो साधु बने उस तो हमको भी इसे बुला कर खिलाएंगे साधु बनते कुछ ऐसा सोते अभी उनको देख खिलाए हम भी साधु बने बैठ कर सबको चित्र चिट्ठी लिखा अथवा बुलाए हमको सेवा करें ये यदि भावना है तो उसको कहते अविवेकी मूड है न आसो बालय स्वदते शास्त्राचार्य से दिखने पर भी न उपतिष्ठते न उसको रुचि होती है किसको प्रमाद्यंतम वित्तम न मूडम प्रमाद्यतम प्रमादम कुर्वंतम प्रमाद करने वाला का क्या अर्थ है पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम यही प्रमादे परमात्मा प्राप्ति के लिए निकला और आसक्ति पुत्र पशुआदि प्रयोजन में आसक्त मनो यस्य आसक्त मना तम विषय में जिसका मन आसक्त है विषय चिंतन करता है वही प्रमादी है तो साधन क्या करेगा विषय चिंतन करेगा कहते ध्यान करने अच्छा लगता है अच्छा लगता है क्यों ध्यान में थोड़ा विषय चिंतन अच्छा होता है और तो नहीं तो कुछ पढ़ो रटो याद करो उस समय विशेष चिंतन होगा विशेष चिंतन का तो रट नहीं सकता है कोई तो एक व्यक्ति कोई कह रहा बड़ा, बड़ा हमको ध्यान अच्छा लगता है मन एकाग्र कुछ नहीं सोचते मैं क्या ये श्लोक को याद करो सुनाओ दो तीन दिन तो बहुत तो बहुत अच्छा लगता है बाद में क्या नहीं समय नहीं मिलता है जो ध्यान में बैठ कर मनोराज्य करके विषय भटकना होता है अब श्लोक याद करेगा तो समय मिलेगा समय नहीं मिलेगा तो फिर बड़ा कठिन भाग छोड़कर भाग जाते हैं श्लोक याद करो कुछ तैयार करो बुद्धि लगाओ दिमाग लगाओ समय यदि इसमें लग जाएगा तो खाली समय नहीं मिलेगा तो विषय चिंतन नहीं होगा कहते ध्यान करने की आशा तो और जो ध्यान कर सकता है वो पढ़ भी पढ़ भी नहीं सकता है तो ध्यान नहीं कर सकता है पढ़ने में मन लगता है तो चिंतन कर सकता है इसलिए अपनी परंपरा है विषय को छोड़ने के लिए थोड़े शास्त्र चिंतन व्याकरण न्याय आदि पढ़े बुद्धि को लगाए बुद्धि तीक्ष्ण और साधों का सबका अनुभव है यहाँ रहने वाले जो नहीं पढ़ते खाली दिमाग रहता है कैसे रहता देखो और व्याकरण न्याय पढ़ते दिमाग लगाते तो कैसे लगता है किंतु इतने हैं जो थोड़ा खाली दिमाग रह करके थोड़े दिन रह जाते हैं ना बाद में उनको भी अच्छा लगता है पढ़ने में जोर देना पड़ता है वो नहीं कर पाते हैं थोड़े पुराने हो जाते हैं मन को खाली छोड़ करके रहते हैं तो बाद में कहीं पढ़ना परिश्रम करना पड़ेगा उसे विपराभ्याम जे अध्ययनात् पराजयति <laughs> पराजय रसोढ़ <laughs> अध्ययनात् पराजयति पराजित अध्ययन से छोड़ करके आत्मनिपद हो जाता है विपराभ्याम जे परा जी धातु से पराजयते बहुत ऐसे हो जाते हैं इसे ज्यादा समय से खाली नहीं रहना जो खाली थोड़े दिन रहने का अभ्यास हो जाता है वो फिर आगे नहीं कर पाते हैं साधन भी क्या कर सकते हैं यही प्रमाद है पुत्र पशु आदि प्रयोजन में आसक्त मन यही प्रमाद है मन कहीं विषय में आसक्त विषय चिंतन करता है तो समझ प्रमाद है देखते से पता चलता है कभी कभी पाठ में बैठा है किंतु कोई सोचता रहता है तो फिर वो प्रमाद क्या करेगा इसलिए पाठ भी ठीक नहीं लगेगा क्योंकि चीज उससे चिंतन करके जो खुशी मिलती है आनंद मिलता है जिसको विषय सोच करें कुछ नहीं मिलता किंतु सोचने पर बड़ा अच्छा लगता है मनोराज्य मनोराज्य से जो तृप्त है वेदांत श्रवण करेगा उसे क्या मिलेगा अरे वेदांत श्रवण करने पर जिसको थोड़ा रुचि आनंद मिल जाता है वो मनोराज मनोराज्य के लिए समय नहीं मिलेगा इसे साधु को समय नहीं मिले तो अच्छा है समय मिले तो मन भटकने लगा लगता है भटकेगा यही प्रमाद है पुत्र पुष्पादि प्रयोजन में आश्रित मनसम तथा वित्तम होय मूढ़म वित्त निमित्तेन वित्त के कारण अविवेक है मूढ़ तमसाचन अज्ञान से ढका गया संतम अयमेव लोक मानता है क्या यही जो दिखता है यही क्या है लोक यही जो भोग है स्त्री अन्नपान आदि विशिष्ट स्त्री भोग कर अन्नपान खाओ पियो बस यही लोक है पर अदृष्ट लोक आगे कुछ है ही नहीं इतव तो मननशीलो मानता है आगे क्या स्वर्ग आदि यही सब स्वर्ग है यहाँ अच्छा खा करके बैठो यही स्वर्ग है आगे क्या स्वर्ग पुनर्पुनर्जनित्वा वसम आपद्यते में वस क्या तो अधीन मद अधीनताम आपद्यते मद अधीन तो मेरा कौन मृत्यु और मम मेरा अधीन क्या है जनन मरण आदि लक्षण दुख प्रबंध आरूढ़ जन्म मरण आदि लक्षण दुख का प्रबंध प्रवाह उसमें आरूढ़ होकर के भटकता है प्राय एवं भवती तथा प्राय ही एवं विधैव लोक यमराज कहते ज्यादातर लोग ऐसे ही है एवं ही लोक होता है यही प्रमाद करने वाले ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु करवा करवावहै